देव पथित शुभला तीर्थ तथा दीप्तिकेश्वर की महिमा देवासुर के द्वारा महादेव जी की स्तुति तथा वैष्णव तीर्थ की महिमा मार्कंडे जी कहते हैं तदंतर देवपथ नामक में शुभ तीर्थ है उसमें विधि पूर्वक स्नान करने वाला पुरुष सब यज्ञों का फल पाता है वही देवपथ नाम से प्रसिद्ध शिवलिंग भी है जिसका श्रद्धा पूर्वक दर्शन करने से पितरों की उत्पत्ति गति उत्तम गति होती है वही सहस्त्र यज्ञ नामक उत्तम तीर्थ है जहाँ मार्गशीर्ष मास में एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की पूजा करके मनुष्य सहस्त्र यज्ञों के अनुष्ठान का फल पाता है उस तीर्थ के प्रभाव से वह पाप रहित हो जाता है वह यमलोक को नहीं देखता और पशु पक्षियों की योनि में भी नहीं जाता तदंतर शुक्ल तीर्थ जाए उसमें स्नान करने वाला मनुष्य दस गोदान का फल पाता है शुक्ल तीर्थ आठ हाथ का होता वहाँ कालाग्निरोध तथा श्री कंठदेव पूर्व काल में इंद्र ने भी देवदेव उमापति को नर्मदा के जल से नहलाकर बेल पत्र द्वारा उनका पूजन किया था शुक्ल तीरथ के प्रभाव से देवता उदित हो जाए तो वहीं कश्यप जी का देवताओं और सिद्धों से तथा सेवित पुण्य आश्रम है वहाँ दस हजार दस हजार मुनि सूर्य की उपासना करते हैं कुबेर ने कुबेर ने सूर्य ग्रहण के अवसर पर शुक्ल तीर्थ में चंदन अगर कपूर फल माला चंदोवा ध्वजा तथा दीप माला आदि के उपचारों से महेश्वर का पूजन किया अतः उस तीर्थ के प्रभाव से ही वे यज्ञ के राजा और धन के स्वामी हुए उसी तीर्थ के प्रभाव से देवताओं ने देवलोक में नाना प्रकार के भोग प्राप्त किए हैं वह तीर्थ सब तीर्थमय और देवमय है वह स्नान स्नान और महादेव जी का पूजन करके मनुष्य सब देवताओं और दैत्यों के गणों से पूजित होता है राजन यजाति नाम से प्रसिद्ध एक चक्रवर्ती राजा हो गए उन्होंने बड़े-बड़े यज्ञ द्वारा भगवान यज्ञ पुरुष का पूजन किया है जहाँ पुण्य सलीला मधुमती नदी नर्मदा के साथ मिली है वहाँ उन्होंने ब्राह्मण ऋतुजों के साथ यज्ञ प्रारंभ किया था वहीं मध्येश्वर लिंग है जहाँ साक्षात भगवान महेश्वर पर निवास करते वहाँ स्नान करने वाले स्वर्ग में ज्ञात जाते हैं और जो वहाँ मरते वे मुक्त हो जाते उसी स्थान पर भगवान विष्णु ने मधु कैटव नामक दैत्य का वध किया था वहाँ श्री विष्णु देव के पूजन से सहस्त्र गोदान का फल मिलता उस तीर्थ में तिलों के साथ जलदान और पिंडदान देने से करने से पितर चौधा इंद्र को स्थित काल तक तृप्त रहते हैं यह यज्ञ पूर्ण होने के पश्चात वहाँ पाताल से कालग्नि के समान कांतिमान एवं शिवलिंग प्रकट हुआ है भारत उस लिंग की प्रभा से संपूर्ण जगत उज्जवल हो गया तब लिंग रूपधारी भगवान विष्णुध्वज वृषभध्वज राजा ययाति से कहा राजन तुम्हारा कल्याण हो तुम कोई वर मांगो ययाति बोले देव आप भगवती पार्वती के साथ यहाँ रहें और इस स्थान का कभी त्याग ना करें यहाँ किए यज्ञ दान आदि सब कार्य सदाक्ष हैं तपस्या और दान से रहित पापी मनुष्य भी यहाँ स्नान करके शुक्ल तीर्थ के प्रभाव से आपके लोक में चले जाएं महादेव जी ने कहा राजन तुमने जो कुछ कहा है वह सब सत्य होगा तत्पश्चात सब देवता अपने-अपने विमान पर आरोह स्वर्गलोक को चले गए राजऋषि ययाति भी दीर्घ काल तक राज्य का पालन करते हुए अंत में स्वर्गलोक हो गए मार्कंडे जी कहते हैं दीप्तेश्वर दीप्त मस्तिकेश्वर नाम से प्रसिद्ध एक सिद्धलिंग कहा गया है जो जिसमें श्रेष्ठ तीन लोक में दूसरा कोई भी प्रसिद्ध नहीं है दिप्तिकेश्वर देव का दर्शन स्पर्श और पूजन करने से अनेक जन्मों का घोर पाप क्षण भर में नष्ट हो जाता है जो मानव एक दिन या दो घड़ी भी उनकी पूजा करता वह इस भयानक संसार समुद्र में फिर जन्म नहीं लेता देवताओं के स्वामी विष्णु ब्रह्मा तथा अन्य नाय देवता के द्वारा भिन्न-भिन्न नामों से उन उमावल्लभ महादेव जी की स्तुति इस प्रकार की गई भगवान शिव सदा रहने वाले अचल प्रभा प्रकाश रूप दीप्तिमान श्रेष्ठ वर देने वाले अभिष्ट मनोरथ पापहारी श्वेत वर्ण तथा सब प्राणियों का संहार करने वाले सर्वसर्मथ संसार के कारण वैराग्य एवं मोक्ष के कारण संयम रूप सनातन अटल शमशान वासी भगवान आकाश में विचरने वाले इंद्रियों में व्याप्त वंदना करने योग्य महान कर्म करने वाले तपस्वी समस्त प्राणियों को उत्पन्न करने वाले मत वाले वेश में अपने स्वरूप को छिपाए रखने वाले संपूर्ण लोगों की प्रजा का पालन करने स्वामी विराट स्वरूप विशाल शरीर वाले समस्त लोगों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा समस्त प्राणियों के परमात्मा विविध रूप वाले छोटे रूप वाले मनन करने वाले संसार बंधन का तथा समष्टि रूप सबके निश्चित आधार सब सब अंगों वाले तथा प्रवृत्ति भाग में स्थित रहने वाले कामनाओं से संपन्न स्वतः प्रकट होने वाले आदि और अंत अर्थात सृष्टि और संहार करने वाले जीवों के आश्रम सहस्त्रो नेत्रों वाले भयंकर नेत्रों वाले चंद्र स्वरूप अथवा उमा सहित नक्षत्रों को सिद्ध करने वाले चंद्र सूर्य शनि हेतु ग्रह ग्रहपति श्रेष्ठ तपस्या के साक्षी बल स्वरूप खड़े होने वाले यज्ञ रूपी मृग पर बाण चलाने वाले पाप रहित एक महान तपस्वी दीर्घ काल तक तपस्या करने वाले सबकी उत्पत्ति के आदि कारण दीनों पर दया करने वाले सूर्य रूप से वर्षा पूरा वर्ष पूरा करने वाले मंत्र प्रणाम परम तप स्वरूप योगी योग की महान शक्ति से उत्पन्न उत्पन्न महान वीर्य वाले हर महाचेता सर्वज्ञ कारण सहित संहारकारी हिरण्य करने वाले कमर कमंडल धारी धनुष धारण करने वाले सबके प्राण को अपने हाथ पर रखने वाले प्रतापवान जीवात्म रूप अपने से भिन्न अन्य किसी ईश्वर से रहित शूलधारी खड़गधारी धारी पवित्र पवित्र स्वरूप तेज स्वरूप तेज प्रकट करने वाले आश्रय स्वरूप मुकुट धारण करने वाले सुमुख जल में रहने वाले विस्तार विस्तार करने वाले सूर्य रूप सूर्य और चंद्रमा रूपी नेत्र वाले सुंदर तीर्थ रूप अपने भोर आकृष्ट रखने वाले श्रृंगाल श्रृंगालेश्वर रूप से प्रकट सर्व प्रयोजन रूप सूंद धारण करने वाले गणेश रूप निर्मल जन के आधारभूत कमंडलों की भांति संपूर्ण संसार के आश्रय जग अज प्रतिबिंबा तथा सुगंधित माला धारण करने वाले हिरण्य रूपधारी कपाल धारण करने वाले जिनके वीर की गति ऊपर की ओर है ऐसे ऊपर के लोगों को साक्षी ऊंची उठाए वाले भुजा भुजाओं वाले नव अष्ट मूर्तियों में आकाश रूप तीन जटा धारण करने वाले सब जीवों के अवस्था स्थान रुद्र कार्तिक रूप से देवताओं के सेनानायक सेनानायक सर्वव्यापक दिनों में दिनों में चलने वाले फिरने वाले रात में विचरने वाले जिनके श्रीअंगों से उत्तम सुगंध निकल रही है ऐसे संपूर्ण संपूर्ण दिशाओं के स्वामी राजा को मारने वाले परशुराम रूप त्रिपुरासुर अंधकासुर आदि दित्य को मारने वाले धारण करने वाले पोषण करने वाले रूप गुण स्वरूप सिंह और शाल रूप से प्रकट व्याघ्रेश्वर गजासुर का लीला चमड़ा धारण करने वाले पीड़ा हरने वाले समय से योग साधन में तत्पर महानंद स्वर सबके निवास स्थान चारों ओर जाने वाले मार्ग स्वरूप दूरदर्शी प्रेतों में विचरने वाले समस्त प्राणियों में रहने वाले महान ईश्वर अनेक रूप में प्रकट बहुत धन वाले समस्त पुरुषार्थ स्वरूप उत्तम गति रूप तांडव नृत्य को पसंद करने वाले तांडव नृत्य करने वाले नाचने वाले मेघ स्वरूप भयंकर बड़ी भारी तपस्या करने वाले सब में वाम करने वाले अविनाशी पर्वत को धारण करने वाले आकाश सहस्त्र रूप में प्रकट जानने योग्य उद्योग एवं निश्चय रूप निर्णय सिद्धांत रूप अनन्य न सहने वाले धूम क्षमाशील चतुर दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने वाले दक्ष यज्ञ का अपहरण करने वाले उत्तम स्वरूप मत्स्य विरुद्ध के तेज का अपहरण करने वाले दक्ष यज्ञ में देवताओं के यज्ञ भाग का हनन करने वाले प्रसिद्ध पूजित सबके उत्पादक गंभीर गर्जना करने वाले गंभीर युक्त गंभीर भविष्य पहुंचाने वाले अग्नि स्वरूप वट वक्ष रूप पर्वत या वट रूप नक्षत्र की भांति चमकने वाले समर्थ विमु तीखे बाल वाले सूर्य और चंद्रमा रूप नेत्र वाले महादेव कर्म काल के ज्ञाता यज्ञ एवं व्रत की दीक्षा देने वाले भक्तों द्वारा प्रसन्न किए जाने वाले